दिनों कहीं खेत में जाता था आ गया खा लिया आज क्या स्वाद भोजन का है क्या आज बनाया है इसमें नमक है या नहीं है मैं अपने विचार में लगा हुआ हूं घर वालों को पता न को पता अपने विचार में और वही बात मरने और जीने की बात है खा लिया और फिर काल उठ के चल पड़ा फिर अपने किसी को कुछ भी पता नहीं तो आगे जिस समय ये घटना आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जब बहुत तीव्र हो गई तो मुझे याद है कि जिस दिन ये स्थिति उत्पन्न हुई थी उस दिन बड़ी विचित्र अवस्था थी खेत में थामे और ऐसी स्थिति में चला गया जहां सुनसान आकाशवत अवस्था सारा संसार मर चुका है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे और वो अवस्था इतनी निर्भीक इतनी भय रहित अवस्था कोई भी डर कोई भी क्लेश कोई भी किसी प्रकार की चिंता नहीं पर वहां था कोई नहीं <laughs> क्या समझे आप मिलने जुलने वाला कोई चित्र विचित्र आकार प्रकार में न मनुष्य ने जड़ में और कुछ भी नहीं था भाई एक बात तो ये इस अवस्था जैसी अवस्था है ही नहीं दुनिया में इसको छोड़ इसमें रहेंगे तो कहां तक रहेंगे इसमें कोई है ही नहीं ऐसी अवस्था भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं अनुभूति को इसलिए सुना रहा हूं ये प्रयोग किए हुए तो उसमें उसके पश्चात क्या हुआ बड़ी विचित्र विचित्र घटना मैं लेने के चलता था जहां संसार नाशमान है क्या नहीं है कैसे कैसे ये बातें मेरे सामने आती प्रश्न उठाता उत्तर ढूंढता प्रश्न उठाना उत्तर प्रश्न उठाना उत्तर ढूंढना प्रश्न उठाना उत्तर ढूंढना ये मेरा सतत कार्य चलता रहता था फिर ये भी बात मैंने अच्छी तरह से अपना ली थी जो सत्य सिद्ध हो जाती थी बात उसको मैं पकड़ लेता था और जो असत्य सिद्ध होता थी इसको छोड़ देता था चाहे कुछ भी हो उसके आगे कदम नहीं बढ़ाते मुझे याद है ये बाजरा बोते हैं बाजरी बाजरी में शू कहें तो वो बो रखा था तो क्या हुआ चिड़िया ये पक्षी उसको खाने लगते पहले तो उड़ाता रहता था मुझे रक्षा की अब जिस दिन ये प्रश्न खड़ा हुआ था लंबा चला था कि ये संसार है किसका मेरा मेरा करते हैं मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा ये वस्तु तो है किसका प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैंने ये सिद्ध कर लिया कि मेरा भी नहीं और तेरा भी नहीं ये संसार परमात्मा का मैं यहां पहुंच गया और ये बात सिद्ध हो गई इसके सिद्ध होने के पश्चात मैंने एक भी किसी पक्षी को बाजरे खाते हुए नहीं हटाया बाय जो बात सत्य सिद्ध हो गई उसको ले लेना असत्य सिद्ध होगा उसको छोड़ देना जब ये स्थिति आगे बढ़ी तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा आगे की स्थिति ये जो अवस्था बनाई गई थी और कैसे मैं सोचता था मैं यहां जब पहुंचा था ये सूर्य चंद्रमा भी नाशवान है ये भी न थे पहले आगे रहने नहीं है एक प्रश्न बहुत गहरा उठा था उस समय ये उठा था कि संसार में ये सूर्य चंद्र आदि जब कुछ भी नहीं रहेंगे तो क्या ये कहीं चले जाएंगे रूपांतर होगा या इनका अभाव हो जाएगा ये गंभीर प्रश्न था उसमें ये निर्णय हो गया कि नाशवान है ध्यान देना क्या सिद्ध हो गया ये थे भी नहीं और रहेंगे भी नहीं और दोनों प्रलय की अवस्थाओं को हम बीच में जाके खड़ा करते हैं तो वर्तमान प्रलय वत बन जाता है तो उस समय एक प्रश्न खड़ा हुआ था मेरे सामने कि सूर्य चंद्र आदि भी नाशमान है तो दो विचारधाराएं सामने आती हैं नाशमान के दो अर्थ होते हैं अभाव हो जाना कुछ भी नहीं रहना और रूपांतर हो जाना परिवर्तित हो जाना उत्तर यह हुआ कि जो चीज है उसका अभाव नहीं हो सकता उत्तर मिला पैदा होना मिट जाना पैदा होना मिट जाना ये चक्कर है अब आगे बढ़ूंगा मैं ये स्थिति ये पकड़ी मैंने और उस समय जैसे थे उस दिन मैं घर आया तो घर की स्थिति क्या है क्या नहीं है बस उस दिन सारी स्थिति बदल गई पूरी की पूरी और बस प्रातः काल घर छोड़ करके किसी पड़ोसी के जाके वहां बाहर बैठ गया और घर वाले देखते हैं <laughs> देखते हैं <laughs> मैं आंख बंद किए हुए अपने बैठा हूं और संसार को प्रलभित देख रहा हूं उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाह रहा हूं और घर वालों को क्या है एकदम बस का मच गया लंबी कथा है क्या सुनाऊं वर्षों तक की कथा है तो बड़ी विचित्र अवस्था घर वालों ने देखना ये क्या हो गया क्या हुआ और पड़ोसियों को भी ये हो गया बस गांव में बन गया अब किसी ने कहा भाई ऐसे करो ये भी एक आपको रुचिकर भी लगेगा हम वो बांसुरी बजाते थे आजकल वो बाजा कम रह गया है उसमें पहले चार ही छिद्र होते थे फिर एक और बढ़ जाता तो पांच हो गए थे फिर एक और बढ़ जाता तो छह हो गए थे वो बहुत बल से बजता है ये इसको बांसुरी बोलते हैं तो हम सुपेरे होते थे वहां जो सांप रखते हैं उनके साथ प्रतियोगिता भी करते थे होड़ लगाते थे हम जीतेंगे <laughs> इनको हराएंगे ये अब लोगों ने कहा ये सुपेरे होते हैं जो सांप रखते हैं ये इनके पास जाता था और इनके पास कुछ इन्होंने खिला दिया है भांग वांग और इसके दिमाग में भांग चढ़ रही है इसकी खूब पिटाई करो <laughs> <laughs> किसी ने कहा कि करो इसके पैरों को बांध दो ऊपर कड़ी होती थी लकड़ी की याद तो सिलेंडर चल पड़े उसको पैर बांधो और फिर मारो ना चीज को इसकी सारी भांग निकल जाएगी अब यदि मैं सर्वांग रूप में यदि सृष्टि को नहीं बिचार रहा होता था तो मैं डर करके उस मार्ग को छोड़ सकता था रहस्य की बात यह फिर से सुनिए मैंने किसी चप्पे चप्पे को छोड़ा नहीं था पूरे ब्रह्मांड में या कल्पना से यदि मैं इन घटनाओं से पहले यदि परिचित न होता कि मुझे मारा भी जा सकता है मुझे काटा भी जा सकता है जितनी भी काल्पनिक घटना हो सकती है मैं इनके क्षेत्र में यदि पूरा विचारक न बना हुआ होता तो निश्चित रूप से मैं डर जाता और डर के इस मार्ग को छोड़ देता ये आपको इसलिए सुना रहे हैं पर क्या बात है मौत क्या होती है पहले देख लिया था मौत के मुंह में जब व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है उसमें जो भयंकर डर लगता है उसमें वो भागता है मैंने अपने भागने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी याद रखना भागेगा वो व्यक्ति जहां कोई जगह रह गई हो सारे संसार को छाना कोई तो ऐसी जगह हो जहां मरने के मैं बच जाऊं मैं क्या चाहता था मैं सदा जीना चाहता था आप भी ऐसा ही चाहते होंगे या नहीं है हाँ जी मैं क्या चाहता था मैं सदा जीवित रहूं बस मेरी अभिलाषा ये थी मैंने खोज की क्या कोई ऐसी चीज है दुनिया में ऐसा कोई उपकरण है संसार में कि मैं जीवित रह जाऊं कोई उसका अंश मैंने नहीं छोड़ा जितने भी साक्षात और प्रोक्ष रूप में जो कल्पना हो सकती थी उनको सबको उपस्थित किया और कोई ऐसा उपकरण साधन मुझे नहीं मिला मुझे सदा जीवित रख तो मैंने सोचा जब जीवित रख ही नहीं सकता तो आज ही देखो वो मौत आएगी तो क्या होगा ये है वही आज ही देखना चाहता हूं मैं तो मौत को जब मौत आएगी जब आएगी आएगी तो क्या होगा अब दृष्टांत है वो मर गया ये मर गया रात हो गई कुछ भी नहीं रहा तो तेरा क्या होगा बोलो जो इसका हुआ तो <laughs> तेरा होगा ध्यान देना देखो मैं दृष्टांत के साथ जोड़ता था जो इसका हुआ बूढ़े का हुआ इतने मर गए राख होगी कुछ भी नहीं दिख रहा तेरा वही होगा अच्छा बस यहां पर भयंकर डर लगता है यदि डरता है व्यक्ति तो वो योग में प्रवेश नहीं कर सकता याद रखिए भय डर जब तक बना रहेगा वो व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता आप गाते हैं वैराग्य लेवा अभयम वस्तु तो ऐसी स्थिति है उस समय एक बात जानने की है सर्वांग पूर्ण की सृष्टि को मैंने नहीं विचारा होता तो निश्चित रूप में ऐसी ऐसी घटना होती रहती थी सब कुछ हो सकता था तो मैं बिल्कुल ही लौटने के लिए तैयार नहीं था मैं तो अपने आप को मार करके फिर आगे बढ़ रहा था उस स्थिति में मैं कैसे रहता था आप तो थोड़ी देर बात करने से रुकने नहीं पाते हैं आपके पीछे हम लगे रहते हैं तभी बात करने से रुकते नहीं सारे दिन भर में विशेष मित्र से एक दो बात कर ली तो कर ली नहीं तो बात नहीं कर ऐसी स्थिति भर वो भी विशिष्ट जो मित्र थे और उनके साथ भी ऐसे बोलना जैसे आंख बंद है और उसने कुछ कहा और थोड़ी सी बात बोल दी न हंसना न चहल पहल न कुछ बात बस इस स्थिति को बनाया रखने के लिए वो सारी ये कोशिश थी उससे थोड़ा सा बोला एक दो बात कही फिर खत्म कितने दिनों तक ऐसा अभ्यास किया कितना लंबा काल इसमें लगा और क्या क्या बातें सुनते थे क्या क्या होता था लंबा इतिहास है और मैं किसी से डरना या आदि आदि जितनी भी कल्पना हो सकती है मुझे नहीं छूती थी छू जाए तो स्थिति बिगड़ जाए समाधि की कोई भी घटना यदि छू जाए तो स्थिति बिगड़ेगी भंग हो जाए देखिए मैंने ऐसे देख लिया स्थिति बिगड़ जाए नहीं ठहर इतना लंबा अभ्यास किया और बड़ी विचित्र विचित्र अवस्थाएं गांव में रहता था उन्नीस वर्ष की अवस्था की लगभग अवस्था थी जूता पहनना छोड़ दिया और कुर्ता पहनना छोड़ दिया सिर पर कुछ नहीं एक लंगोट और ऊपर है गांव में घूमे और उसके माता पिता क्या सोचते होंगे हाँ, बोलो उसके माता पिता क्या कहते होंगे हमारा लड़का कैसे घूम रहा पागल और हमको क्या कहेगी दुनिया बस बड़ी विचित्र अवस्था थी मैं आपको सुना रहा हूं वैराग्य में तो ऐसा होना पड़ेगा कि डरते हो तो वैराग्य को हाथ में लगाना डरने वाले का ये काम बिल्कुल नहीं है ये तो तलवार की धार पर चलना है बस अपने आप को मार दो और एक प्रकार से अगला जन्म ले लो ये वस्तु स्थिति सुना रहा हूं जो की जो और देखो भोजन के लिए बैठ जाता मैं और एक रोटी दो रोटी दे दी सो तो दे दी न मांगना और न हां न ना जो रख दिया वो खा लिया और फिर ने मांगना न कुछ दाय बड़े लंबाई से यहां है कैसे कैसे घटना होती थी अच्छा मित्र जो थे विशिष्ट उनको मैंने दो दिनों को बताई दिलवाई पहले तो उन्होंने भी पागल माया अर्थात पूरे गांव में और जहां तक परिचय था सब ने मुझे निश्चित रूप में मुझे पागल मान बिल्कुल ये सिद्ध कर अच्छा और भी पागल थे कई आप आपको रोचक घटना सुना कई पागल और थे गांव और वो पागल के उनको वो जब वो क्या होती है हाँ उठती है ना क्या बोलते हैं उसको दौरा पड़ता था हाँ पागलपन का दौरा पड़ता था ना जब उभरता था ईट पत्थर बुरी तरह लोगों को मारते थे तो लोग कहते हैं तो पागल तो किसी को मारता वारता नहीं तो ये कहते हैं वो सुनता ही की बात तो है तो पागल किसी को मानता वारता नहीं है ये अच्छी बात है तो एक मास तक तो वो मित्र थे वो भी पागल मानते रहे फिर मैंने कहा देखो भाइयों सुनो हम अलग से बैठे ना थोड़ा सा कि ये संसार नाशवान है और सब कुछ परमात्मा का है और मैं जब इस स्थिति को उन्हें प्राप्त किया तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इतना मिठास पैदा हो गया है बस वो कहीं भी नहीं मिलता उन्होंने सोचा कि भाई ये तो सचमुच कोई चीज इसके हाथ लगी होगी उन्होंने ये सोचना आरंभ किया क्योंकि हम आपस में सारी बात बता देते थे तो बार बीते की बात एक एक होती थी हमारी बुरी अच्छी तो मैंने जब उनको कहा कि ये सब कुछ नाशमान सब कुछ ईश्वर का है और ऐसा मैंने समझा ऐसी स्थिति बड़ा ही आनंद आता है ऐसे ये सारा संसार नाशवान दिख रहा है तो एकदम वो विचार में लगे और विचार में लगते ही अपने घरों में जा जाके बैठते लंबा काल लगाने लगे वो धीरे धीरे ऐसे आंख बंद करने लगे घर वाले ने कहा तू क्या सोचता है एक तो वो पागल हो गया तू उसी की तरफ पागल बनना चाहता क्या अब धमकाया और बेचारे इंटर के दोनों ने छोड़ दिया वही खत्म अभी अपने अध्यापक जी रामकृष्ण जी साथ थे और ये आशुतोष जी साथ थे गांव वाली गए अब उसी गांव में की चर्चा है अब तो बड़ा एक कस्बे के रूप में तालुका के रूप जैसा बन गया बहुत बढ़ गया तो वो ही मित्र एक दो तीन कितने थे वो वहीं के वहीं बूढ़े हुए जाए हुए बैठे कुछ छात नहीं वही अभी मिले वही थे अब किसी भी चित्र बात मैंने कहा देखो भाई मैंने तो परिश्रम किया ईश्वर की सहायता से देखो क्या हुआ देखिए ये कहां बैठे अब बिना परिश्रम के कुछ वो घबरा गए माता पिताजी ने उनको धमकाया ना वो मैंने वो बताया था कि सर्वांग पूर्ण जो सृष्टि का विवेचन नहीं करता वो व्यक्ति अधकचरे विचार को लेकर के घबराता है बीच में ही फिर उड़ जाता है वो छोड़ देता है तो देखो ये कितनी सुनाऊं मैं जितनी सुनाता जाऊंगा वो लंबी भी वर्षों की घटनाएं थी ये और ऐसी ऐसी विचित्र अवस्थाएं वहां चलती थी और क्या भोजन क्या वस्त्र क्या सोना क्या उठना बस चौबीसों घंटे मौत के मुंह में रहना और न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की न मान की न मान की बस मौत के मुंह में बैठ करके विचार किया जा रहा है और किसी भी मूल्य पर ईश्वर का ध्यान नहीं छोड़ा जाता किसी भी मूल्य पर नहीं ध्यान देना इतना विवेचन तो उस समय नहीं किया काट छाट होती है ना कैसे कैसे काट छाट मैं सोचता हूं मैं ये चीज जानता हूं आदि आदि पर ये जो काट छाट अर्थात ईश्वर अलग है मैं अलग हूं इतनी काट छाट उस समय करने का अवकाश बड़ा नहीं मिल पाता चाहता था ये लंबी चली और आगे चलते चलते चलते चलते घर वाले थक गए हार गए रोहतक मुझे ले गए कि बीमार है ये और डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर जी ने देखा ऊपर नीचे से और कहने लगा इसका दिमाग कमजोर है <laughs> तो वो उन्होंने कहा अच्छा कुछ शीशियां दे दी दवाई की वो दे दी तो वो चलता रहा लंबी कथा है तो वैराग्य की स्थिति कितनी अद्भुत कितनी विचित्र थी और कैसे कैसे उसमें सोचा जाता था तो आगे चल करके ये होते होते लंबी कथा बनी और आगे चल करके लगभग स्थिति कुछ परिपक्व हुई है और परिपक्व स्थिति होने लगी तो मैं कुछ कुछ बोलने लगा और अंदर जो बड़ा भारी उत्साह इतना भारी उत्साह था कि सारे संसार को भयंकर दुखों से छुड़ा के मैं जिस स्थिति में मैं हूं ऐसे बना दू ये भावना पूरे संसार में पूरे लोग ये दुखी सबको ऐसा बना दो कुछ कुछ मैं बोलना आरंभ करता हूं परंतु मैंने अनुभव किया मैंने बारह खड़ी किसी किसी से पूछ के सीखी थी मिला मिला करके बोलना आरंभ किया था इतना ही भाषा का ज्ञान था मैंने देखा कि मेरी कौन सुनेगा ये बात ठीक नहीं आ रही ध्यान में क्या किया जाए डेढ़ वर्ष के भीतर सत्यार प्रकाश किसी ने बताया उससे पहले महात्मा गांधी जी की मंगल प्रभात ऐसी कुछ पुस्तकें मुझे बहुत अच्छी लगी सत्यार प्रकाश में लिखा था कि अंग उपांग पाठ्यक्रम तो उसको मैंने देखा और फिर मैंने खोज की इस रूप में बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बड़ा लंबा विचित्र इतिहास ये है इतने वर्षों तक मैं प्रयास करता रहा गुरुकुलों की खोज और बहुत लंबे इस स्थिति में बढ़ते बढ़ते इतने लंबे काल तक फिर गुरुकुल में जाकर के भी मेरे अभ्यास ज्यों का तो चलता रहा यद्यपि मेरे पास में केवल ढाई घंटे या तीन घंटे कुछ समय मिलता उसमें कुछ पढ़ लेता और उस समय की अवस्था इतनी भयंकर थी बस आज का विद्यार्थी तो लाखों में एक भी नहीं रह सकता मैं जिस अवस्था में रहा हूं गुरुकुल में अवस्था मेरी बढ़ते बढ़ते बाईस वर्ष में पहुंच गई और न घी न दूध कुछ भी नहीं और निम मांगता था स्थिति इतनी गंभीर थी कि दिन भर काम खेती का काम गौशाला का काम औषधि कूटने का काम ये जितने भी कार्य होते थे करते रहते और सूखी रोटी और इसमें हल्दी भी नहीं डालते थे ऐसा शाक और तीन चार घंटे चालीस चालीस मिनट के पढ़ने के पीछे ये दिन रात कार्यक्रम दिनचर्या ब्रह्मचारियों के साथ अलग ब्रह्मचारियों के साथ कार्य अलग अपना कार्य बिल्कुल अलग उनसे अतिरिक्त खर्चा मैं दे नहीं सकता तो ये सारी अवस्था वैराग्य के बल पर ईश्वर की उपासना के बल पर मैंने बिल्कुल बिना किसी दुखी हुए इसको मैंने आगे चलाया तो मैंने थोड़ा सा ये सुनाया ये स्थिति बढ़ती गई आगे मैं चलता रहा मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ होती थी उसका नंबर पीछे अर्थात यदि मेरी स्थिति बिगड़ जाए समाधि की मैं पढ़ना बंद कर देता था जब तक उसको अच्छी तरह फिर नहीं बना देता था अपनी स्थिति को इस उपासना में तब तक अष्टाध्यायी मूल कुछ भी इसको बंद रखता था जो स्थिति जम जाती थी तो उस समय फिर मैं आरंभ करता था फिर उखड़ गई तो फिर उसको इसमें टकराव वृत्ति निरोध परिशोर मूल याद करना ध्यान देना वृत्ति निरोध और ईश्वर बाहर से चीजों को याद करना टकराव हुआ युद्ध बड़ा भयंकर पर इस युद्ध ने मुझे परिपक्व बना दिया युद्ध तो था ही अंतर्वृत्ति में होता हूं तो अष्टाध्यायी याद नहीं होती अष्टाध्यायी याद करता हूं तो बाह्यवृत्ति पैदा होती है तो मैं बस युद्ध करता रहा और चलता रहा धीरे धीरे स्थिति आगे बढ़ी तो उस समय जितने भी कष्ट और कठिनाइयां थी वो इस वैराग्य के बल पर योगाभ्यास के बल पर सारे के सारे सह लिए गए और बड़ी बड़ी घटना होती थी तो मैं वहां गुरुकुल में जब रहता था क्या ब्रह्मचारी अध्यापक और कार्यकर्ता उनको भी यही शिक्षा देना योग की शिक्षा देना और नए पढ़े हुए को कुछ अक्षर ज्ञान देना आदि आदि तो ये धीरे धीरे ये इतना लंबा अनुभव है मैंने इसलिए सुनाया ये जो योग की अनुभूतियां हैं कैसे प्राप्त की गई और इनकी रक्षा भी कैसे की गई यदि इनकी रक्षा नहीं की जाती तो ये स्थिति हाथ से चली जाती और कोई चीज मेरे सामने आ जाती इससे बड़ी तो ये स्थिति बिगड़ जाती अब देखिए इतना सहयोग मिला मुझे सत्यार प्रकाश से और गुरुकुल शिक्षा पद्धति से उसमें जगह मेरी जो स्थिति थी वो सत्य को जानने की थी सत्य की खोज में करता जरा था याद रखना मैं योगी बनने के लिए ऐसा नहीं करता था कभी भी और मैं योगी बनूंगा ईश्वर को प्राप्त करूंगा और उससे मेरे दुख छूट जाएंगे मेरी कोई योजना नहीं थी केवल मेरी योजना में एक ही बात थी कि तीन काल में सत्य क्या बस मैं तो इस खोज के लिए चला था तीन काल में ये जो वर्तमान संसार दिख रहा है नहीं दिख रहा सच्चाई क्या है सत्य क्या है मैं इसकी खोज में चलता जा खोज में चलता था इस खोज के करते करते करते करते ये चीज मेरे हाथ लगी तो इसलिए मैंने ये सारा सुनाया ये जो योग की जो अनुभूतियां हैं कैसे होती हैं किस अवस्था में होती हैं तो व्यक्ति को इतना तप करना पड़ता है और कितने वर्षों तक पता नहीं बीसों वर्षों तक या और आगे बढ़िए कितना संयम से रहना मौन रहना और क्या मान और क्या अपमान और क्या खाने पीने की चीजें ये जितनी भी दुनिया में घटनाएं होती हैं इनसे बिल्कुल ऊपर उठ के रहना मैं जब गुरुकुल में चलता था फिरता था और पढ़ता भी था अध्यापक भी मेरा मकोल उड़ाते थे और ब्रह्मचारी तो उड़ाते ही उड़ाते थे क्योंकि मेरी आंख बंद रहती थी लगभग जब कक्षा में बैठता तब भी आंख बंद करके सुनता तो अध्यापक जी कहते सो रहा है तो ये क्या पढ़ेगा अब चलता जब भी आंखें अरे ब्रह्मचारी जी मखोल उड़ाते खूब तो मैं इसलिए सुना रहा हूं ये तप ये पुरुषार्थ कितना किया गया और कितना हमने किया तब जाकर के ये स्थिति आई है और ऐसा नहीं समझना कि आप ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते सब तो नहीं कर सकते ये तो हम कह सकते हैं परंतु आप में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो समर्थ हैं बुद्धि अच्छा काम करती है समझने की योग्यता है उनमें और जिज्ञासा है अंदर तो हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं तो ध्यान देना मूलभूत बाधक है और मूलभूत साधन है वो इन्हीं के नहीं होते उन पर सारी शाखाएं प्रशाखाएं चलती है मूलभूत सिद्धांत यदि उनको बाधक समझ में आ गए जो कि पर रुकावट डाल रहे हैं उनको उसने उखाड़ दिया तो समाधि को आप प्राप्त कर लेंगे साधना को यदि आपने उपस्थित कर दिया तो समाधि को प्राप्त कर लेंगे मूल सिद्धांत जैसे एक को सुनिए सर्वस्व का स्वामी ईश्वर को स्वीकार कर लिया आपने अपने स्वामित्व को दुनिया के स्वामित्व को हटा डाला तो ये मूल सिद्धांत है आपकी सैकड़ों बातों का समाधान होता चला जाएगा यदि योग दर्शन की भाषा में बोलूं तो क्या कहूंगा मैं अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य अशुद्ध को अशुद्ध शुद्ध को शुद्ध दुख को दुख सुख को सुख अनित नहीं चेतन को चेतन जड़ को ये मूल विवेक और विवेक का सिद्धांत है यदि चारों बातों को यदि व्यक्ति बाधकों को उसने दूर कर दिया चारों को और साधनों को अपना लिया तो सामाजिक को कोई रोकने वाला नहीं चाहे आपका आसन तीन घंटे लगे ना लगे प्राणायाम से दो मिनट का हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं कि इतने घंटे प्राणायाम करोगे तभी समाधि लगेगी हाँ कुछ अभ्यास तो उसका हो तो मूल सिद्धांतों को लेकर जब व्यक्ति चलता है मूल बाधक जो है एक और सुन लीजिए व्यक्ति का प्रेम प्यार ईश्वर के अतिरिक्त किसी में नहीं रह जाता ये मूल सिद्धांत है तो आगे बढ़ जाएगा और इसको ईश्वर निधान के क्षेत्र में लेते ईश्वर को स्वतः करा लेता यदि मुझे पूछे कि आपको सबसे अधिक सिखाने वाला कौन है योग का विषय तो मैं एकदम उत्तर दूंगा ईश्वर मुझे सबसे अधिक सिखाने वाला ये स्थिति बस सब कुछ ईश्वर है मैं ईश्वर के सिवाय किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था कहते हैं प्राण से भी प्रिय ईश्वर के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा यह सिद्धांत अपनाया यदि आपने दूसरी चीजों से कुछ प्रेम किया ईश्वर के अंदर प्रेम मात्रा घट गई तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप इसी योग दर्शन की भाषा में इस अनित्य चीज को अनित्य आपने नहीं स्वीकार किया आगे नहीं बढ़ सकेंगे अशुद्ध शरीर यम का विरुद्ध आचरण को अशुद्ध ही आपने नहीं माना और यम को शुद्ध नहीं माना तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे विषय भोगों में आपने दुख स्वीकार नहीं किया सुख किया तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे ये एक एक जड़ और चेतन को यदि इस रूप में नहीं जाना तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे मूल सिद्धांतों को लेकर विचारने का आरंभ कर दीजिए गति एकदम होगी अब देखो व्यास भाषा में तक रहा है कि भाई व्यक्ति जब संप्रज्ञा समाधि की ऊंची अवस्था में जाता है तो कैसे देखता है प्रज्ञा प्रसाद आरूप ये सोचिए सोच तो जना बुद्धि के विकास को प्राप्त होकर के व्यक्ति असोचे कलेशों से मुक्त हुआ हो सोच तो जनान कलेशों में पिसते हुए लोगों को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा व्यक्ति धरती में रहने वाले को देखता है ये योग केंद्रीय अनुभूतियां शरीर से उठता है नहीं उठता ये एक वाद विवाद का विषय इसको छोड़ दीजिए बौद्धिक स्तर पर निश्चित रूपेण आकाशवत अवस्था होती है योगी बौद्धिक स्तर पर शरीर में रहते हुए वो जिस स्तर पर व्यक्ति ऐसा ही अपने आप को देखता है जैसे कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो और दुनिया को नीचे कलेशों से पिस्ता देख रहा हो कलेशों से मुक्त अपने आप को ऊपर देख रहा हो आकाशवत अवस्था होती है उसकी ध्यान देना समाधि टूटती है तो इन चीजों का संपर्क हमसे ऐसे होता है जैसे किरण जाती है इन चीजों का ऐसे संपर्क होता है जो समाधि लगाते हैं तो सारे के सारे संपर्कों को हम काटते काटते काटते काटते काटते काटते पूरे संसार को काट देते हैं और पूरे संसार को काटने के पीछे चित्र रह जाता है उस चित्र को भी उड़ा देते हैं और चित्र के उड़ते ही आकाशवत अवस्था पैदा होती है ये भी अनुभूतियां जो आपके सामने देखो ये योगियों की जो व्यास बातें माई है योग में व्यक्ति जाकर के क्या क्या अनुभव करता है सूत्र रूप में भाषा है व्याख्या कितनी भी लंबी की जा सकती है जो छोड़ने योग्य चीज थी उसको मैंने पूरे रूप से जान लिया है उसका कोई भाग बाकी नहीं रह गया सूत्र रूप में भाषा है याद रखना इसकी थोड़ी सी व्याख्या करता हूं छोड़ने योग्य जो चीज थी उसको मैंने पूरे रूप से जान लिया है उसका भाग कोई बचा नहीं रह गया छोटा सा दृष्टांत दूंगा आपने चोट लगी इस दुख को जाना ज्वार हो गया ताव हो गया इसको जाना बुढ़ापे का दुख कहीं दरिद्रता का दुख सीधे दुख हमको सताने वाले उनको तो आपने जाना परंतु जो संसार के अच्छे से अच्छे भोजन में जो सुख है उसमें रहने वाले दुख को आपने नहीं जाना योगी की स्थिति देखना जितने संसार में सुख हैं उनमें दुख चार प्रकार का मिश्रित है योगी कहता है उस दुख को मैंने जान लिया है जो सुखों के अंदर निहित है दुख की बात छोड़ दीजिए सुखों में जो चार प्रकार का दुख रहता है मैंने उसको अच्छी तरह से जान लिया है किसी सुख में आज मैं सुख की भावना नहीं करता उस सुख को भी दुख रूप मैंने समझ लिया है वो योगी यहां जाके बोल रहा छोड़ने योग्य जो चीज थी दुख वो जो सारा का सारा मैंने जाना सुख में रहने वाले दुख को भी मैंने जान लिया है जो व्यक्ति लौकिक उसको नहीं जानता दूसरी बात क्या थी दुख के कारण दुख पैदा होता है अज्ञान से दुख पैदा होता है अधर्माचरण से दुख पैदा होता है झूठी उपासना से दुख पैदा होता है जो है बुरे संस्कारों से दुख पैदा होता है कुसंस्कारों से इसके अनेक कारण दुख पैदा करने वाले हैं उसके विषय में योगी क्या सोचता है उनको मैंने अपने ज्ञान के बल तपस्या के आधार पर उनको सबको मैंने जीर्णशीर्ण कर दिया है अर्थात ऐसे बना दिया है अब वो दुख पैदा नहीं कर सकेंगे ये अनुभूति करता है आप आगे बढ़ेंगे साधना का क्षेत्र आएगा और पिछले जीवन को हम देखेंगे कि अब भी क्या मेरी भावनाएं विषय भोगों की है कुछ बची हुई वो देखता है और जिस दिन वो देखता है आज बची हुई नहीं है क्योंकि पीछे के कारण को मैंने खत्म कर दिया वो रहा नहीं है वो कहता है मैंने अज्ञान को कुसंस्कारों को अधर्माचरण को ईश्वर से भिन्न उपासना को मैंने उसको बिल्कुल ऐसा बना दिया है वो पुनः दुख को पैदा नहीं कर सकेगा तीसरा है अब एक अनुभूति सुनेंगे आप जब अष्टम प्रज्ञा समाधि आई और उसने देखा सारे दुखों से छूट करके और मोक्ष नाम की चीज को इसी शरीर में उसने अनुभव करके देखा अब वो कहता है असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से मैंने मोक्ष को जान लिया समझ लिया है अब मेरे लिए प्रापणीय वस्तु इससे आगे कोई बची हुई नहीं रह गई प्राप्तम प्रापणीय की स्थिति में पहुंचता है यही एक ऐसी अवस्था है जहां जाके व्यक्ति ये कहता है जो मैंने पाना खा जो पा लिया अन्य कोई अवस्था नहीं फिर चौथा इस साक्षात्कार के मोक्ष के जो साधन थे विवेक आदि उनको मैंने संपादित कर लिया साधनों की कमी मेरे पास में नहीं है क्योंकि साधनों की जो कमी रहेगी तो साध्य की प्राप्ति पूरी नहीं हो पाएगी और पांचवी बात पांचवी है ना बुद्धि के दो काम ऋषि ने स्वीकार किए लौकिक सुख को प्राप्त करवाना और मोक्ष को प्राप्त करवाना जब ये दोनों को प्राप्त करवा लेती है तो बुद्धि की दौड़ धूप अब शांत होगी दो काम उसने पूरे करवा दिए अब उसकी दौड़ धूप खत्म हो चुकी है मुख्य प्रयोजन के दोनों से दो गए लौकिक भोगों को भोगता गया देखा उसने और मोक्ष को प्राप्त भी करवा दिया अब बुद्धि के काम दौड़ दुख के समाप्त अगली हाँ जी अगला जन्म अब गुणों के विषय में सत्वर तम से यह सारा संसार बना है महतत्व पैदा हुआ अहंकार हुआ ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इन गुणों की सृष्टि को देखता है कि ये सत्वर तम जो सृष्टि में विविध शरीरों को पैदा करते हैं अब मेरे अंदर जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है इसी प्रकार का शरीर ये रजत तम आगे मेरे लिए उत्पादित नहीं कर सकेंगे अगला जन्म मेरा होने वाला नहीं सुरेश जी कहां है <laughs> सुरेश जी ने जो बात कही ना जन्म वो याद आ गई तो वो ये देखता है फिर आगे कहते हैं अब एक ऐसी स्थिति अंतिम आती है कि मैं चेतन हूं बिल्कुल सत्वर जतन से मेरा कोई सम्मिश्रण नहीं है पर वहां शब्द ऐसा नहीं है हम कहते हैं इसकी स्थिति का वर्णन ऐसे करो जीवात्मा केवल अपने मात्र ज्ञान से ये स्थिति प्राप्त नहीं करता ये ईश्वर की सहायता से करता है कहना चाहिए मैं चेतन हूं मेरा इन गुणों से कोई संपर्क नहीं है परंतु ईश्वर देखता है ये सच्चिदानंद परमात्मा सर्वव्यापक चेतन है ये चेतन है इस स्वरूप वाला सर्वशक्तिमान मैं अणु छोटा सा चेतन हूं सत्वरज से मेरा कोई संपर्क नहीं है ये अंतिम स्थिति उसकी सातवीं है अब देखो ये मैंने थोड़ा सा बताया ये योग की अनुभूतियां अब ये ब्रह्मचारी हैं पढ़ते हैं ये जितना इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं आप इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते या नहीं देखती आप जितने शीघ्र ये ब्रह्मचारी इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं बहने भी जो युवावस्था में वो बढ़ सकती हैं वृद्ध अवस्था वाले इतने नहीं बढ़ सकते पर निराशा की बात नहीं तुलना की जा रही है ये दस वर्ष में जाएंगे आप पंद्रह में चले जाएंगे चिंता की यह बात है <laughs> जी ऐसे सोच पड़ेंगे ब्रह्मचारी बढ़ पढ़ सकते हैं हम तो देखा जाएगा अगले जन्मों में ऐसा मत सोचना शुरू करना आज सोचने में दोष है मैं तुलना इस बात की कर रहा हूं इनको जितनी सुविधा है इनके अभी संस्कार पके नहीं है इन संसार के विषय भोगों में ये अब तक लखपत नहीं हुए हैं इनके संस्कार इतने विकृत नहीं हुए हैं इनमें शक्ति भी है ये शीघ्र से शीघ्र इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं औरों की अपेक्षा तो कितना ही मैं सुनाऊं आप सुनते रहो और मैं सुनाता रहूं ये समाप्त होने वाला है नहीं और ये पंद्रह वर्ष आप रहे बीस वर्ष में तब भी समाप्त नहीं होता और ये ऐसी ऐसी विद्या है लंबी चौड़ी अब इसको हम चाहते हैं इसकी रक्षा करें इसकी रक्षा के लिए सारी योजना बनी है और विषयों का ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़ चुका है भौतिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ता चला जा रहा है पर आत्मा परमात्मा के विषय का ज्ञान अत्यंत अल्प और कम से कम बिल्कुल दुनिया भूलती जा रही स्थिति है और यदि इसको न रोका गया भौतिकवाद को और आत्मा परमात्मा के ज्ञान को न बढ़ाया गया तो आज जैसी स्थिति है आगे जैसे बिल्कुल गदर की स्थिति और बढ़ जाए गदर तो अब भी हो रहा है जिसको गदर बोलते थे ना पहले आज वो गदर ही है इस समय की जो मार काट को देखो तो इसका नाम ही गदर था पहले फिर उस समय जो मारा करते थे लोग और ये हम इसके लिए हम ये प्रयास नहीं करते या नहीं करेंगे तो ये विद्या जो है ये दर्शन शास्त्र उपनिषद वेद में ये सारी की सारी हो सकता है कम लोग इसके मानने वाले होंगे कम होते होते होते होते ये लुप्त हो जाए ये स्थिति आप विद्या के ही माध्यम से इस विद्या के आधार पर ही विश्व को सुखी बनाया जा सकता है इसी विद्या के आधार पर लौकिक सुख और मोक्ष का सुख सिद्ध होते हैं नहीं तो हो नहीं सकते यदि योग के इस मार्ग को छोड़ दिया जाए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को छोड़ दिया जाए और ईश्वर को छोड़ दिया जाए और धन धाने के परिपूर्ण हो जाए ध्यान देना लौकिक सुख भी नहीं मिल सकेगा कभी देख लेना आप लौकिक सुख भी वहीं बढ़ता है लौकिक सुख भी वहीं उभरता है जहां मोक्ष को सामने रख के करते उसको सामने रख के चलने वाला व्यक्ति पापों से बचता साधक होता और पुण्य आत्मा संयमी होता है और वो लौकिक सुखों को गौण मानता है सल कपट पक्षपात आदि से दूर रहता है और जो मोक्ष सामने लक्ष्य नहीं होता तो सारी की सारी उल्टी क्रियाएं वो करता और जैसे आज हो रही है तो इसलिए आपका हमारा सबका ये मुख्य कर्तव्य है वेद दर्शन उपनिषद इनकी विद्या को सुरक्षित रखा जाए और पढ़ने पढ़ाने में सुरक्षित और क्रिया रूप में इनका व्यवहारिक रूप सामने लाना चाहिए मैंने सोचा था, था बहुत लंबा चौड़ा पर पीछे से इतना सहयोग मुझे नहीं मिला अन्यथा अब तक इस विषय को इन ब्रह्मचारियों को पढ़ाने की दृष्टि से योग सिखाने की दृष्टि से हजारों गुना अधिक करता मैं पीछे से सहयोग नहीं मिला पीछे से न तो कोई हमें संस्थाएं मिली न उसके लिए अर्थव्यवस्था मिली न कार्यकर्ता मिले प्राय अधिकतर विरोध तो मिलता रहा सहयोग कम से कम और पता नहीं आप जानते हो तो जातिवाद इतना है कि जातिवाद को लेकर सारे सिद्धांत खत्म हो जाते वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ जातिवाद भी <laughs> तो ये चीजें वर्षा सामने इसका मतलब ये नहीं कि जातिवाद के नहीं कहने से मैं घबराता हूं मैं आपको बाधक सुना रहा हूं जातिवाद इतना भयंकर है इतना अंदर फैल गया है कितना ही अच्छा व्यक्ति हो वो जातिवाद को देकर के उस व्यक्ति को महामूर्ख ठहराया जा सकता है पागल ठहराया जा सकता है तो ये सारी बाधाएं हैं यदि ये न होती तो कितना बड़ा काम होता फिर भी याद रखना आपने वही पाठ पढ़ना है सबके होते हुए हम किसी से रुकने वाले हैं ये ये मैंने तो उस दिन नहीं थी कोई है आज बची हुई मजे जो सत्तर से ऊपर बहने थी गुजरात की और बड़ा अच्छा उनका शरीर और लाठी भाले सीखे और वहां जुलूस निकाला और वो गाया क्या गा रही थी हम दयानंद के सैनिक हैं हम रुकना झुकना क्या जाने <laughs> हमें हम रुकना झुकना बस ये बात है हम रुकना झुकना अन्याय के सामने नहीं जानते चाहे तो सारा संसार विरोधी हो मैर की दान दिए ऐसे चले तो हम ऐसा चले आप तैयार हैं तो, बात खड़ा करो डरते क्यों बैठे क्यों आज खड़ा तो कर दो कम से कम आधा से ही सफाई से ही <laughs> ये ये क्यों किया जाता है बट कम से कम सत्य बोलने वाला व्यक्ति जब हाथ खड़ा कर देता है बट वो अब मैं कहता मैं रुकना झुकना क्या जानू वह ये करीब आ जाता अच्छा चलो ये तो बहुत लंबी विद्या है आप ध्यान रखो हम भी पूरा प्रयत्न करें कि इस महती विद्या को सर्वोपरि विद्या को सुरक्षित रखना और फिर अपने देश में और विदेशों में इसको पहुंचाना और हम ये भी चाहते हैं भौतिक वैज्ञानिकों के साथ हम संबंध जोड़े धीरे धीरे भौतिक वैज्ञानिक जो हैं हमारे विषय को समझ लें और हो सकता है वो जिज्ञासा लेकर के कुछ समझे हम उनको कुछ समझाएं और हो सकता है वो समझ जाए और उनके समझ लेने के पश्चात फिर विश्व का दिमाग बदला जा सकता वो स्वीकार कर लेंगे अच्छी तरह फिर भौतिक विज्ञान को साथ जोड़ देंगे और आध्यात्मिक विज्ञान को जोड़ेंगे और उनके दिमाग से बातें आएंगी जहां बिल्कुल ठीक बात है इसके बिना मानव जीवन जो है शांति से रह नहीं सकता और ये अत्यंत आवश्यक है फिर सारे विश्व का ढांचा बदलेगा विश्व का दिमाग बदल जाएगा हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं अच्छा चलो अब मुझे विराम देना चाहिए हैं बंद कर देना चाहिए तो वही एक लेखक ने लिखा था कि भाई एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति अंधा था वो भाषण दे रहा था खूब तैयारी की थी और बोलते बोलते बोलते बोलते घंटा इतना हो गया और बेचारे को उसको तो पता नहीं चला धीरे धीरे सारे सामने से उठ गए और उसने सेवक ने कहा महाराज जी ये ताली लो आओ ना जब ताला ताला लगा के आ जाना आप धीरे धीरे सारे सो जाओगे और मुझे फिर सोचना पड़ेगा मैं जाऊं या नहीं जाऊं वो महर्षि दान की घटना याद आती है उस समय वो सो गया एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे दूसरा तीसरा सो गए पृथ्वी सिंह भी धड़क जी थे बड़े ही गायक थे वो क्या बोलते थे देख नजारा शिव के ऊपर ये बालक चक्राता उठो पिताजी आंखें खोलो ये आवाज लगाता देख नजारा शिव के ऊपर ये बालक चक्र ऐसा ही मेरे साथ होगा ये चाचाजी से होंगे पिताजी से होंगे और ये हर तरीके मैं क्या करूंगा अच्छा चलो अब हम एक वैराग्य की ओर प्रेरणा देने वाला भजन बोलेंगे और इन सब बातों को ध्यान में रखें योजना बना के चलेंगे जहां तक मैं बात करता हूं इसमें सब में गंभीरता होती है ये रोचक रुचिकर इसलिए बनाया जाता है विद्यार्थी जिज्ञासु उस रोचकता को लेकर के वो थकता नहीं है नींद नहीं आती उसकी रुचि बनी रहती है ये स्थिति है अब पंद्रह वर्ष पहले मेरे भाषण सुन लेते ना आज से पंद्रह वर्ष पहले भाषण सुन लेते ना मेरे आज के तो क्या आप ये क्या कहते स्वामी जी आप कहां चले गए थे बोलते बोलते बोलते बोलते समाधि की बात और प्रमाण पर प्रमाण और लोग बैठे बैठे सुन रहे थे वो तो कहते महाराज जी आप बोलते बोलते कहां बोलते को देखकर आए चले गए लोग तो क्या कह रहे हैं आप अच्छा, क्या बात थी बात ठीक थी प्रमाण जी के कहते ये समझ ही नहीं पा रहे मैंने कहा अच्छा ऐसी बात अगर नीचे उतरना पड़ेगा <laughs> एक आलंकारिक भाषा में एक व्यक्ति ने बताई थी बात गुरु जी मान थे और जब वो विद्यालय में पढ़ाने जाते तो अपना गर्दन उठा के काट के रख जाते और पढ़ाने जाते विद्यार्थियों पर फिर आगे अपनी गर्दन रख लेते थे ऐसा उसका व्यवहार था ठीक था नहीं समझे आप विद्यालय में पढ़ाने जाते और गर्दन को काट के रख जाती है उतार के और आकर के गर्दन को फिर लगा लेते थोड़ी कापड़ आ जाते ऐसा हो सकता है, ए पी एच पीएचडी योग की जो गर्दन को तो उतार देते हैं और उन बच्चों को वैसे ही समझाते अपनी गर्दन बच्चों जैसी बना करके और आ करके अपनी वो सुख सुधा की वो गर्दन रख देते ये आलंकारिक भाषा तो ये बात है मैं तो अपनी गर्दन को उतार करके आपको समझा रहा हूं फिर जाके लगा दूंगा तो वो वहां उसको समझाना पड़ता है उसी तरह अच्छा चलो अब वैरागी का भजन बोलेंगे और आप भी बोलना ये बातें होती हैं कभी भजन भी बड़ा प्रेरक होता है आजकल के युवक क्या कहते हैं स्वामी जी बात बहुत अच्छी लग रही है पर ये भजन का समय तो पचहत्तर वर्ष की अवस्था में आएगा तो जो कहेंगे हम है जी अब इसी भावना को लेकर कभी मैं अपने विचार रखे हैं कई लोगों की इच्छा भी होती है कहते स्वामी जी वो भजन सुना दो उन्होंने कहा अच्छा भाई वो नहीं सुनाया कहीं कहेंगे तो अब बार अधूरापन गया <laughs> तो देखो मेरे साथ बोलना कई बार सुन सुन के व्यक्ति आनंद तो लेता रहता है और बोलता बिल्कुल नहीं <laughs> तो वो अब हमको मुश्किल पड़ जाती है सारा स्वयं बोलना पड़ता है तो बोलोगे या नहीं आप कभी की भावना है रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई बता दे कोई कहाँ गई साथ बोलना आगे पीछे नहीं गई गई बस गई लौट कर गई गई बस गई लौट कर फिर ने कभी वहां आई मुझे बता दे कोई कहाँ बता दे कोई कहाँ नहीं पढ़ाना नहीं है मेरी मुझे चलना तो गड़बड़ हो जाएगी मुझे आपकी धुन माना पड़ेगा नहीं हमें और सारी बिगड़ जाएगी जाना है लाहौर और चले जाएंगे कलकत्ता फिर कहा जिसकी रक्षा की हित खाई मेवा और मिठाई हाँ हाँ मेवा और मिठाई